चुनाचे उनको एक जलसले ने पकड़ लिया फिर उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे पड़े थे